राभ कृपया पनि सुनहु मन सुनला जब जब राब तनु धर हे भक्त हे तोले लाभ कर तब तब मय अवधपुर जाओ चरित बिलो की हर साऊ जन्म महोत्सव देख जाए बरस पाँच तह भाए हे पक्षीराज गरुड़ जी श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ मन लगाकर सुनिए जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएँ करते हैं तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर पाँच वर्ष तक वहीं रहता हूँ देव मम बालक रामा शोभा बपुष कोटि निज प्रभु बदन निहारे निहारे लोचन सुफल करऊर गारे लघु बायस बपु धर हरि संगार देखौ बाल चरित बहुरंगा बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है हे गरुण जी अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ लड़का जह फिर तह तह संग जूठन पर अजिर मह सो उठाए करी खाऊ एक बार यतिशय सब चरित किए रघुबीर सुमिरत प्रभु लीला सोये पुलकित भय शरीर लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुसुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया कहा भुसुंडी सुलभु खगनायक रामचरित सेवक सुखदायक निप मंदिर सुंदर सब भाते खचित कनक मने नाना जाति भरणी न जाए रुचिर जंगनाए जह खेल नित चार उभाए बाल विनोद करत रघुराई विचरत यीर जननी सुखदाई मुसुंड जी कहने लगे हे पक्षीराज सुनिए श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग प्रति छवि बहु कामा नवराजीव अरुण पदजरुचिरनख, चरणजरु चिरनख शशि नुपुरचारु मधुरवकारि चारु पुरटमणि रचित बनाई कटकिंकनी कल मुखर सुहाई मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर है मड़ियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है रेख त्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर उरयायत भ्राजत विविधे बाल विभूषण चीर उधर पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली है नाभि सुंदर और गहरी है विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं अरुण